Osho talk Tao Upanishad number 98. तुमने भी कई बार अनुभव किया है कि क्रोध तुम करते हो पीछे पछताते हो दुखी होते हो निर्णय लेते हो नहीं करूंगा क्रोध लेकिन फिर क्रोध हो जाता है क्या कारण होगा तुम पूर्व निवारण नहीं कर पा रहे हो बीमारी जब आ जाती तब तुम उसे हटाते हो तब तक तो बीमारी ने जड़ें जमा ली क्रोध कोई अकेली घटना नहीं है मल्टी काजल है उसके बहुत कारण है एक आदमी ने तुम्हें गाली दी तुम यह मत समझना कि बस यही कारण है क्रोध का तुम अगर ठीक से न सोए तो वो भी कारण बनेगा क्रोध का तुम्हें अगर ठीक से भोजन न मिला तो वो भी कारण बनेगा क्रोध का तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम की धारा न बही तो तुम हर घड़ी राजी हो क्रोधित होने के लिए ये आदमी की गाली देना तो सिर्फ बहाना है ये सब चीजें तुम्हारे भीतर तैयार है बारूद तैयार है ये आदमी तो सिर्फ एक अधजली सिगरेट फेंक देता है विस्फोट हो जाता तुम समझते हो ये आदमी बम फेंक दिया इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया है इस आदमी का कोई संबंध ही नहीं है तुम अगर भीतर शांत हो तो ये सिगरेट उस शांति के जल में जाके बुझ जाती पता भी ना चलता तुम भीतर अशांत थे बारूद मौजूद थी सूखी बारूद लिए घूम रहे हो और तुम सोचते हो कोई दूसरा तुम्हें क्रोधित करवा रहा है फिर तुम कसमें खाते हो व्रत नियम लेते हो कि मैं क्रोध ना करूंगा तुम और दूसरा पागलपन कर रहे हो क्योंकि जब बारूद भीतर मौजूद है तुम कैसे क्रोध ना करोगे वैसी झंझट थी अब दुगनी हो गई अब तुम इस बारूद को दबाए फिर रहे हो अब यह विस्फोट भयंकर होगा जिस दिन फूटेगा उस दिन तुम बचोगे ही नहीं तुम किसी की हत्या करोगे या आत्महत्या करोगे पुरुष ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं इससे तुम्हें जान के हैरानी होगी स्त्रियां कोशिश करती हैं ज्यादा लेकिन सफल नहीं होती स्त्रियों का काम धंधा ही ऐसा है सौ स्त्रियां आत्महत्या की कोशिश करती हैं तो मुश्किल से बीस सफल होती उनकी कोशिश भी अधूरी अधूरी है वो कोशिश के कारण दूसरे हैं वो ठीक मरना नहीं चाहती अगर सौ पुरुष आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो पचास सफल होते स्त्रियां कोशिश ज्यादा करती हैं इसलिए तुम्हें यह भ्रांति होगी कि स्त्रियां बहुत आत्महत्या करती नहीं आत्महत्या पुरुष ज्यादा करते हैं दो गुनी ज्यादा स्त्रियों से दुगनी आत्महत्या करते और कारण क्या है कारण यह है कि स्त्रियां अपने क्रोध को निकाल लेती बर्तन तोड़ देंगी प्लेट पटक देंगी बच्चे की पिटाई कर देंगी निकाल लेती रो लेंगी चीख चिल्ला लेंगी कपड़े फाड़ लेंगी सिर के बाल खींच लेंगी आत्महत्या के लायक क्रोध इकट्ठा नहीं हो पाता और पुरुष अकड़ा हुआ रहता है रो कैसे सकता है मर्द कहीं रोता है अब मर्द नहीं रोता तो भगवान ने मर्द की आंखों में आंसू की ग्रंथि क्यों बनाई तो भगवान ने कुछ गलती की उतनी बड़े ग्रंथि आदमी की आंखों में है जितनी स्त्री उसमें उतने ही आंसू भरे वो निकलने चाहिए लेकिन मर्द रो नहीं सकता छोटे छोटे बच्चों को हम सिखलाते हैं क्या रो रहा है लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहा है आंख लड़के और लड़की के में कोई फर्क नहीं है और रोना एक निकास है और जो रो नहीं सकता वो ठीक से हंस भी नहीं सकता क्योंकि हंसी में भी आंसू निकल आते हैं रोना और हंसी दोनों तरफ से एक ही दिशा में यात्रा करते तो पुरुष ना तो हंसता है ठीक से न रोता है ठीक से न क्रोध करता है अकड़ में बना रहता है तो इतना इकट्ठा हो जाता है मवाद कि जब फूटता है तो या तो हत्या करता है या आत्महत्या करता है अगर दुर्जन हुआ तो हत्या करता है सज्जन हुआ तो आत्महत्या करता है बस इतनी फर्क है दोनों ही हत्या करते हैं दुर्जन दूसरे को मिटाता है सज्जन अपने को मिटाता है लेकिन मिटाने में दोनों एक जैसे हैं जो व्यक्ति क्रोध से पीड़ित हो उसको पूर्व निवारण करना चाहिए और अपने पूरे जीवन स्थिति को समझना चाहिए कि मैं बारूद कैसे इकट्ठी कर रहा हूं और बारूद को सूखा रखा हुआ हूं मैं खतरा लेकर घूम रहा हूं जैसे पेट्रोल की टंकी पर लिखा रहता है इनफ्लेमेबल ऐसी सबकी खोपड़ी पे लिखा रहना चाहिए इनफ्लेमेबल जरा कोई ने माचिस जलाई कि झंझट खड़ी हो जाए एनोशो talk Tao Upanishad number seventy seven लीला को मेरे पास लाया गया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है पति की मृत्यु हो गई तो वो रोई नहीं लोगों ने कहा बड़ी सबल है सुशिक्षित है सुसंस्कृत है जैसे जैसे लोगों ने उसकी तारीफ की वैसे वैसे वो अकड़ के पत्थर हो गई आंसुओं को उसने रोक लिया जो बिल्कुल स्वाभाविक था आंसू बहने चाहिए जब प्रेम किया है और जब प्रेम स्वाभाविक था तो जब प्रिजन की मृत्यु हो जाए तो आंसुओं का बहना स्वाभाविक वो उसका ही अनिवार्य हिस्सा है लेकिन लोगों ने तारीफ की और लोगों ने कहा स्त्री हो तो ऐसी इतना प्रेम था प्रेम विवाह था मां बाप के विपरीत विवाह किया था और फिर भी पति की मृत्यु पर अपने को कैसा संयत रखा संयमी रखा संकल्पवान है दृढ़ है आत्मा है इस स्त्री के पास इन सब बकवास की बातों ने उस स्त्री को और अकड़ा दिया तीन महीने बाद उसे हिस्टेरिया शुरू हो गया फिट आने लगे लेकिन किसी ने भी ना सोचा कि इस हिस्टेरिया के जिम्मेवार वे लोग जिन्होंने कहा इसके पास आत्मा है शक्ति है दृढ़ता है वही लोग क्योंकि भीतर तो रोना चाहती थी लेकिन कमजोरी प्रकट ना हो जाए तो अपने को रोके रखा यह रोकना उस सीमा तक पहुंच गया जहां रोकना फिट बन जाता है यह सीमा उस जगह आ गई जहां की फिर अपने आप कंप पैदा होंगे सारा शरीर कपने लगता और वो बेहोश हो जाती यह बेहोशी भी मन की एक व्यवस्था है क्योंकि होश में जिससे वो प्रकट नहीं कर सकती फिर उसे बेहोशी में प्रकट करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह गया शरीर तो प्रकट करेगा ही हिस्टीरिया की हालत में लौटती पोटती चीखती चिल्लाती लेकिन उसका जुम्मा उस पर नहीं था और कोई उससे यह नहीं कह सकता कि तेरी कमजोरी है ये तो बीमारी है और होश तो खो गया इसलिए जिम्मेवारी उसकी नहीं होश में तो वो सख्त रहती जब मुझे मेरे पास उसे लाए तो मैंने कहा कि उसे न कोई बीमारी है न कोई हिस्टीरिया है तुम हो उसकी बीमारी तुम जो उसके चारों तरफ घिरे हो तुम कृपा करके उसके अहंकार को पोषण मत दो उसे रो लेने दो वो जो बेहोशी में कर रही है उसे होश में कर लेने दो उसे छाती पीटनी है पीटने दो उसे गिरना है लौटना है जमीन पर लौटने दो स्वाभाविक है जब किसी के प्रेम में सुख पाया हो तो उसकी मृत्यु में दुख पाना भी जरूरी सुख तुम पाओ दुख कोई और थोड़ी पाएगा तो मैं उस स्त्री को कहा कि तू सुख पाए तो दुख मैं पाऊं या कौन पाए मैं उससे पूछा कि तूने अपने पति से सुख पाया उसने कहा बहुत सुख पाया मेरा प्रेम था गहरा तो फिर मैंने कहा रो छाती पीट लोट जो बेहोशी में जो जो हो रहा है वो संकेत है तो हिस्टेरिया में जो जो हो रहा है नोट करवा ले दूसरों से और वही तू होशपूर्वक कर हिस्टेरिया विदा हो जाएगा एक सप्ताह में हिस्टेरिया विदा हो गया स्त्री स्वस्थ है और अब उसके चेहरे पर सच्चा बल है प्रेम का पीड़ा का अब एक सहजता है इसके पहले उसके पास जो चेहरा था वो फौलादी मालूम पाता था लोहे का बना हो लेकिन वो निर्बलता का सूचक है क्योंकि चेहरे को फौलाद का होने की जरूरत भी नहीं है फौलाद का चेहरा उन्हीं के पास होता है जिनको अपने असली चेहरे को प्रकट करने में भय तो वो एक चेहरा ओढ़ लेते हैं उस चेहरे के पीछे से वो ताकतवर मालूम होते हैं आप भी लोहे का एक चेहरा पहन के लगा लें तो दूसरों को डराने के काम आ जाएगा और लोग कहेंगे हां आदमी है ये लेकिन भीतर भीतर आप हैं जो कप रहे हैं भय से घबरा रहे हैं उसी के कारण तो चेहरा ओढ़ा हुआ है वो लोहे की फौलाद तो गिर गई उसके साथ हिस्टीरिया भी गिर गया आंसुओं के साथ वो जब झूठा था बह गया रुदन में वो सब जो कृत्रिम था जल गया समाप्त हो गया अब उस स्त्री का अपना चेहरा प्रकट हुआ है लेकिन इसके पहले जो उसे शक्तिशाली कहते थे अब कहते हैं साधारण है जैसी सभी स्त्रियां होती निर्बल है वो जो उसे शक्तिशाली कहते थे अब उसे शक्तिशाली नहीं कहते लेकिन उनके शक्तिशाली कहने से हिस्टीरिया पैदा हुआ था इसका उन्हें कोई भी बोध नहीं लाओस से कहता है ठोस चरित्र दुर्बल दिखता है क्योंकि ठोस चरित्र सहज होता है ठोस चरित्र इतना आश्वस्त होता है अपने प्रति कि सहज स्फूर्त होता है स्पॉन्टेनियस होता है कृत्रिम नहीं होता कोई सुरक्षा का उपाय नहीं होता सहज धारा होती है देखें हम किन को शक्तिशाली कहते हैं लोकमान्य तिलक के जीवन में मैंने पढ़ा है पत्नी मर गई तो अपने दफ्तर में काम करते थे केसरी के दफ्तर में काम करते थे तो जब खबर पहुंची कि पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने लौट के घड़ी की तरफ देखा और उन्होंने कहा अभी तो मेरे दफ्तर से उठने का समय नहीं हुआ तो जिस व्यक्ति ने यह घटना लिखी है उसने लिखा है कि इसको कहते हैं ठोस चरित्र फौलाद मगर मेरे सोचने के ढंग उल्टे ये फौलाद नहीं है ये कृत्रिम चेहरा है जो खतरनाक है क्योंकि जो आदमी घड़ी को ज्यादा मूल्य दे रहा है प्रेम से दफ्तर को ज्यादा मूल्य दे रहा है पत्नी से इस आदमी ने अपने व्यक्तित्व की जो सहजता है उसको दबा लिया है जब कर्तव्य बड़ा हो जाए प्रेम से तो समझना कि असली आदमी दब गया और नकली आदमी ऊपर आ गया लेकिन यह बात कोई और नहीं कहेगा क्योंकि हाँ, सारी दुनिया में ड्यूटी कर्तव्य महान चीज है और जो आदमी प्रेम की भी कुर्बानी दे दे कर्तव्य के लिए उसको हम कहेंगे शहीद है इसको कहते हैं कर्तव्य सेवा राष्ट्र लेकिन जिसके हृदय में प्रेम की सहज स्फुरना ना हो उसका सारा व्यक्तित्व जड़ हो जाएगा सूख जाएगा और जिसके मन में प्रेम की स्फुरना ना हो उसके मन में बाकी कोई स्फुरना नहीं हो सकती हम सैनिक को तैयार करते हैं इस तरह से कि वो बिल्कुल लोहे का आदमी हो जाए और जरूरत है सैनिक की कि वो लोहे का आदमी हो क्योंकि उसे जो काम करने हैं वो अगर उसके पास हृदय हो तो वो नहीं कर पाएगा इसलिए सैनिक को हम कर्तव्य सिखाते हैं सेवा सिखाते हैं आज्ञा सिखाते हैं और हमने सैनिक को लक्ष्य बना लिया है बहुत जीवन के हिस्सों में और हमारा आदमी को चाहते हैं कि वो सैनिक जैसा हो सहज ना हो क्योंकि सारा जीवन संघर्ष और युद्ध है लोक मानने में के जीवन में अगर ऐसी घटना घटी हो तो उसका मतलब यह है कि जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं वो लोकमान्य के सैनिक की प्रशंसा कर रहे हैं उनका कुछ लक्ष्य है क्योंकि उनको लोकमान्य को और लोकमान्य जैसे लोगों को इस घटना के आधार पर ऐसी दिशा में ले जाना है जहां लोग हृदय को छोड़कर संलग्न हो जाएं फिर वो चाहे राष्ट्रभक्ति का नाम हो चाहे कोई और नाम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन नजर यह है कि आदमी सहजता को खो दे असहज हो जाए ये जो असहजता है बड़ी शक्तिशाली मालूम पड़ेगी अगर लोकमान रोने लगते और आंसू बहने लगते हैं और भूल जाते दफ्तर और केसरी को भूलने जैसा था और उठ के दौड़ गए होते पत्नी की तरफ तो हमको लगता अरे शायद हम उनको लोकमान्य भी कहना बंद कर देते कि आखिर साधारण आदमी ही सिद्ध हुए रिंझाई जापान में एक फकीर हुआ उसका गुरु मर गया और जब गुरु मर गया तो रिंझाई की बड़ी ख्याति थी इतनी ख्याति थी जितनी गुरु की भी नहीं थी गुरु की भी ख्याति रिंझाई की वजह से थी कि वो रिंझाई का गुरु है रिंझाई को लोग समझते थे कि वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया परम ज्ञान उसे हो गया वो बुद्ध हो गया लाखों लोग इकट्ठे हुए जो जो रिंझाई के बहुत निकट थे बड़े चिंतित हो गए क्योंकि रिंझाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं वो सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है छोटे बच्चे की तरह तो निकट के लोगों ने कहा रिंझाई ये तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं सकते कि तुम और रो तुम तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो और तुमने तो हमें समझाया है कि आत्मा अमर है तो कैसी मौत तो तुम किस लिए रो रहे हो रिंझाई ने कहा कि रोने के लिए भी किस लिए का सवाल है क्या मैं किसी के लिए उत्तरदायी हूं क्या मैं रोने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं निश्चित ही आत्मा अमर है मैं आत्मा के लिए रो भी नहीं रहा मेरे गुरु का शरीर भी इतना प्यारा था मैं उसके लिए रो रहा हूं आत्मा के लिए रो कौन रहा है मैं तो उस शरीर के लिए रो रहा हूं अब वो कभी भी नहीं होगा अब वैसा शरीर कभी भी नहीं होगा और अगर मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लगता हो तो लगने दो क्योंकि इसी ऐसी प्रतिष्ठा का क्या मूल्य जो गुलामी बन जाए कि मैं रो भी ना सकूं और रिंझाई ने कहा कि मैं तो वही करता हूं जो होता है अपनी तरफ से तो मैं कुछ करता नहीं अभी रोना हो रहा है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं ये रुक जाए तो मैं इसे चलाऊंगा नहीं हम बड़े अजीब लोग हैं हम ऐसे अजीब लोग हैं कि जब रोना चल रहा हो तब उसे रोक लें और जब न चल रहा हो तब रोके भी दिखा दें मेरे परिवार की एक महिला की मृत्यु हो गई थी तो उनके अकेले पति बचे मैं उनके घर था तो मैं था उनके पति थे और तीन चार महिलाएं और जो उनकी मृत्यु की वजह से कुछ दिन रहने के लिए आ गई थी उनको देख के मैं बड़ा चकित होता वो गपसप कर रही हैं बातचीत कर रही हंस रही हैं और कोई बैठने आ जाता एकदम घूंघट काढ़ के वो एकदम रोना शुरू कर देती इसमें क्षण भर की देर न लगती वो आदमी गया उनके घूंघट उठ जाते आंसू पहुंच जाते फिर वो गपशप जहां टूट गई थी वहां शुरू हो जाते मैंने उन महिलाओं को कहा कि तुम्हारी कुशलता अद्भुत है तुम धन्य हो पर हम ये कर रहे हैं जहां रोना हो वहां हम रोक सकते हैं जहां न रोना हो वहां हम रो सकते हैं हम झूठे हैं लेकिन यह हमारी शक्ति मालूम पड़ती है संयम को हम शक्ति कहते हैं और श्रेष्ठ चरित्र सहज होता है संयमी नहीं उसकी सहजता ही अगर संयम बन जाए तो बात अलग है लेकिन सहज उसका मूल आधार है संयम हमारा मूल आधार है कंट्रोल नियंत्रण तो जो आदमी जितना नियंत्रण कर सकता है उसको हम उतना उतना बलशाली शक्तिशाली श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन वास्तविक लाओसे के अनुसार ताओ के अनुसार जो अंतिम जीवन का लक्ष्य है वो इतनी सहजता है कि जहां न कोई नियंत्रण है न कोई नियंत्रण करने वाला है जो हो रहा है उसे होने दिया जा रहा है क्योंकि उसके विपरीत कोई भी नहीं है जब तक विपरीत भीतर है तब तक आप बटे हुए हैं कुछ हो रहा है और कुछ रोकने वाला भी खड़ा है तो आप खंड खंड हैं और खंड खंड व्यक्ति कितना ही दृढ़ मालूम पड़े खंडित व्यक्ति कमजोर है इंटीग्रेशन नहीं है अभी एक अखंडता पैदा नहीं हुई अखंडता ही शक्ति और दृढ़ता है लेकिन अखंडता तो तभी पैदा होगी कि जो मेरे भीतर हो उसको रोकने वाला कोई भी ना हो अहंकार बचे ही ना मैं बच्चे की तरह हो जाऊं जो हो वो हो बड़ा कठिन है क्योंकि हमें खुद ही अड़चन मालूम पड़ेगी कि ये बात तो ठीक नहीं है चार आदमियों के सामने कैसे रोना लोग कहेंगे क्या मर्द होकर स्त्रियों जैसा व्यवहार कर रहे तो आदमी पुरुषों ने तो रोना ही बंद कर दिया लेकिन प्रकृति बड़ी जिद्दी है वो आंसू की ग्रंथि बनाए चली जाती आप रोए चाहे न रोए आंसू की ग्रंथि बनाए चली जाती आपकी आंखें रोने को सदा आतुर हैं चाहे आप पुरुष हों चाहे स्त्री लेकिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं छोटे से बच्चे को कि क्या लड़कियों जैसा रो रहा है वो फौरन रुक जाता है कि मैं लड़की नहीं हूं रोक लेता है लेकिन हमने उस बच्चे को विकृत करना शुरू कर दिया उसके आंसू जहर बन जाएंगे क्योंकि रुके हुए आंसू जहर हो जाने वाले इसलिए आप जान के हैरान होंगे स्त्रियों की बजाय पुरुष मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित होते हैं आमतौर से होना चाहिए स्त्रियां क्योंकि वो ज्यादा कमजोर मालूम पड़ती लेकिन पुरुष ज्यादा मानसिक रूप से बीमार होते हैं स्त्रियों के बजाय पागलखानों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है कारण क्या होगा पुरुष को ज्यादा नियंत्रण सिखाया जा रहा है स्त्री को क्षम्य मानते हम समझते हैं कमजोर है रोती है रोने दो स्त्री ही है स्वीकृत है पुरुष जैसे रोने लगे वैसे ही अड़चन शुरू हो जाती हमने पुरुष को कृत्रिम नियंत्रण सैनिक बनाने की कोशिश की है उसमें वो झूठा हो गया उसके आसपास एक आर्मर एक झूठा कवच हमने खड़ा कर दिया है वो उस कवच के भीतर खड़ा है कोई मर जाए तो भी उसे अखड़े रहना है कुछ भी हो जाए उसे अपने को संभाले रखना ये संभालने वाला कौन है यही हमारा अहंकार है इसलिए जितना बड़ा अहंकारी हो उतना हमें दृढ़ मालूम होगा और जितना अहंकारी हो उतना ही हमें लगेगा कि आदमी दृढ़ नहीं है अहंकारी व्यक्ति सरल होगा सहज होगा जैसे पानी बहता है हवा चलती है इस तरह होगा